बार प्रारंभ हुई और बीच में रह गई तो भूमिका तो इसकी सुनाई है ये कठोपनिषद प्रसिद्ध उपनिषदों में से एक है व्याकरण के महाभाष्यकार लिखते हैं कि ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम च प्रोच्छते आज गांव गांव में कठोपनिषद की कथा होती है आज से 2000 बरस पहले ढाई हजार बरस पहले गांव गांव में कठोपनिषद का प्रकार क्योंकि इसमें सत्य है इसमें न्याय है इसमें पितृभक्ति है इसमें सत्याग्रह है इसमें वैराग्य है इसमें मृत्यु मृत्यु का सामना है और किसी भी प्रलोभन के सामने नचिकेता झुकता नहीं है क्योंकि वो अग्नि है अग्नि नचिकेता माने संस्कृत में अग्नि होता है जैसे आग में आकर के सब भस्म हो जाता है वैसे सारे प्रलोभन जिज्ञासु नचिकेता की बुद्धि में आकर के भस्म हो जाता है और इसका उपदेश करते हैं स्वयं मृत्यु के देवता यमराज संपूर्ण प्रपंच का जहाँ अभाव हो जाता है वहाँ एक और ब्रह्म परमात्मा और दूसरी ओर प्रपंच का अभाव महाप्रलय महाप्रलय महाप्रलय वहाँ बैठ करके जमराज इस सत्य कथा का उपदेश करते हैं उसमें से दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली अब प्रारंभ कर रहे हैं ये कठोपनिषद की कथा कथा ऐतरेया रैणक में भी है और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी है और ब्रह्म सूत्र के कई सूत्रों में इसके मंत्रों का विचार है और शंकराचार्य भगवान का भाष्य तो इसकी प्राचीनता में तो कोई संदेह ही नहीं है और दस उपनिषदों में एक है और नाम की दृष्टि से जो शरीर में अक्षरों का न्यास किया जाता है ना मूलाधार चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र पर्यंत उनमें से हृदय में क से लेकर के छ तक बारह वर्णों का विन्यास होता है क ख ग च छ और ट छ ये दस और दो बारह तो हृदय में विन्यस्त जो क से लेकर के छ तक वर्ण है उनसे उपलक्षित जो शास्त्र का सार है हृदय है वो इसमें वर्णन किया गया है एक कठोपनिषद का स्वाध्याय कर लेने से संपूर्ण उपनिषदों का जो भाव है वो हृदयंगम हो जाता है अब ये जो दूसरे अध्याय की तीसरी बल्ली है ये बड़े विलक्षण ढंग से प्रारंभ होते हैं इसमें पहले इस संसार वृक्ष का वर्णन है अश्वत्थ के रूप में और फिर ब्रह्म का वर्णन है तो संसार को वृक्ष के रूप में वर्णन करने की पद्धति बहुत पुरानी है ऋग्वेद में ऐसे मंत्र आते हैं जिसमें इस संसार का वृक्ष के रूप में वर्णन किया गया है और अश्वत्थ का रूपक तो उपनिषद में जैसे है वैसे गीता में भी है वो तो आप पढ़ते ही हो ऊर्धमूलमध साखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम पंद्रहवें अध्याय में गीता के तो अब जरा इसका अभिप्राय देखो ऊर्धमूलो वाक्षाख केशोस्वत्थ सनातन तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन लोका श्रुता सर्वे तदु नास्ती कश्चन एक वै तात हाँ। पहले संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हैं अश्वत्थ शब्द का एक अर्थ होता है पीपल जैसे पीपल का पेड़ होता है दुनिया के सब भूत प्रेत उस पर निवास भी करें है ना और वासुदेव के रूप में उसकी पूजा भी हो वो वासुदेव भी है और भूत प्रेत का आश्रय भी है और नारायण जरा सी हवा चली और पत्ते खड़खड़ाने लगे एक रूप का नहीं है और सारी तुलना करके बतावेंगे कि वृक्ष के साथ इस संसार की क्या तुलना है वो तो अभी आगे प्रसंग आता है अश्वत्थ शब्द का नैरुक्त अर्थ है खाता अश्वत्थ में आ है ना आ माने नहीं और दूसरा अक्षर है श्व स्व माने सुबह प्रातः काल कल के प्रातः काल और स्थ माने स्थाता न स्वस्थाता इति अस्वस्था उच्यते जो कल सुबह तक नहीं रहेगा मिट जाएगा उसका नाम अश्वत्थ है अश्वत्थ फिर इसको वृक्ष क्यों कहा वो प्रष्टु छेदने वृश्यते छिद्यते वृक्षा भ्रष्ट धातु से सौ प्रत्यय होने पर ये वृक्ष शब्द बनता है वो भ्रष्टु छेदने धातु इसका अर्थ है कि जिसकी काटने से ही निवृत्ति हो वृक्ष भी बोल दिया है है तो ये कल तक नहीं रहने वाला परंतु बदलते बदलते बदलते ये परिणामी नित्य है अनादिकाल से आ रहा है सनातन और ये परिणामी रूप से नित्य है एक पेड़ कटेगा दूसरा निकलेगा एक पेड़ कटेगा दूसरा निकलेगा एक पेड़ कटेगा दूसरी दूसरा निकलेगा जड़ में से जड़ जड़ में से जड़ ये कहो कि कभी ऐसा समय आवेगा जब हम अपने आप ही इस संसार से मुक्त हो जाएंगे हैं? कभी महाप्रलय होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे कभी है ना किसी लोक में पहुंच जाएंगे तब मुक्त हो जाएंगे कभी किसी समाधि में पहुंच जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे किसी समाधि में पहुंचने से इससे मुक्ति नहीं मिलती किसी स्थान में पहुंचने से इससे मुक्ति नहीं मिलती इसको तो असंग शस्त्रेण दृढ़ छिवा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम वृक्ष इसको इसलिए कहते हैं कि इसको काटना पड़ेगा जब तक तुम स्वयं प्रयत्न करके इस संसार वृक्ष को काटोगे नहीं ये अपने आप इससे छुटकारा नहीं मिल सकता इसको काटना पड़ेगा तो ये दो बात जो कही गई अश्वस्थ होना और वृक्ष होना ये दोनों बात वैराग्य के लिए कही गई क्योंकि जिसको अपरिच्छिन्न ब्रह्म तत्व का ज्ञान चाहिए अनुभव चाहिए यदि कहीं परिच्छिन्न से ही वो राग द्वेष कर बैठे हैं तो या तो उसके मन में दुनिया का कोई दोस्त भर जाएगा या तो दुनिया का कोई दुश्मन भर जाएगा राग द्वेष उस चीज को कहते हैं कि जो बाहर से दोस्त और दुश्मन की फोटो लेकर हमारे दिल में बसा दे राग माने रंगीनी द्वेष माने नफरत दुश्मनी अगर तुम किसी से भी दुश्मनी करोगे एक तृण से भी एक कीड़े से भी तो तुम चाहोगे तो ये कि ये गांव में न रहे लेकिन वो कहाँ आके रहने लगेगा तुम्हारे कलेजे में आकर के रहने लगेगा है ना वो तुम्हारे दिल में बस जाएगा बिल्कुल अपने उद्देश्य के विपरीत आचरण हो जाएगा चाहते हो कि गांव में न रहे प्रांत में न रहे देश में न रहे और द्वेष करोगे तो देश में से प्रांत में से गांव में से और अंतरंग हो करके सदाकार वृत्ति होगी कुमारी भट्ट ने लिखा निश्चित जह परस्त होते जिस चीज को तुम दूसरी जगह भी नहीं रहने देना चाहते उसको अपने दिल में धारण करना पड़ेगा ये द्वेष की घटना है इसलिए यदि किसी का किसी एक दृढ़ से भी द्वेष होगा तो उसके अंतकरण में तृण का आकार होगा उसको आंख बंद करने पर तृण दिखेगा और यदि एक चीटी से भी मोह होगा तो उसको आंख बंद करने पर अपने दिल में चीटी दिखेगी तो जो अपरिच्छिन्न ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहता है उसको गुणी से गुणी परिच्छिन्न के प्रति भी राग नहीं होना चाहिए और दोषी से दोषी परिच्छिन्न के प्रति भी द्वेष नहीं होना चाहिए <clears throat> ये जो राग द्वेष राग द्वेष का शैथिल्य है इसी को वैराग्य बोलते हैं तो जब तक तुम परिच्छिन्न के साथ उलझोगे राग द्वेश करोगे तब तक अपरिच्छिन्न का बोध नहीं होगा इसलिए इसको अस्वस्थ वृक्ष कह करके समझाते हैं हमने जितने सिद्ध महापुरुष देखे हैं हम मंडलेश्वरों की बात नहीं करते न महंतों की न मठाधीशों की हम बात करते हैं उन फकरों की जिन्होंने अपने को ब्रह्म के रूप में साक्षात किया है उनका जीवन अविरोधी होता है अविरोधी जीवन हमारा जीवन दर्शन क्या है हमारा जीवन दर्शन है अविरोधी मांडू के कारिका में श्री गौड़ पादाचार्य ने कहा अविवादो विरुद्ध हमारा संसार में किसी से विवाद नहीं है क्योंकि सब हमारे आत्मा हैं हमारा किसी का विरोध नहीं है क्योंकि सब हम ही हैं एक बार किसी ने उड़िया बाबा जी से पूछा कि महाराज आप अद्वैतवादी हो बोले नारे हम अद्वैतवादी नहीं हैं हम स्वयं अद्वैत हैं हाँ, हम स्वयं अद्वैत हैं अद्वैतवादी नहीं हैं स्वयं ब्रह्म है स्वयं अद्वैत है है ना वादी विवादी होता रहे तो दो तीन बात वेदांत को समझने के लिए आवश्यक है बता एक तो वैराग्य की बात कह दी ये अंतकरण की शुद्धि है वो है ये विवेक से जब तुम सोचोगे कि हमारे आप दिल ब्रह्म में लगे तो जहाँ राग है द्वेष है वो चीज तुम्हारे दिल को खींचती है तो राग द्वेष छोड़ोगे तो उधर से उधर से दिल हटेगा तो विवेक करने से जब तुम विचार करोगे कि हमारा हृदय शुद्ध कैसे रहे शुद्धि क्या है अशुद्धि क्या है दूसरी बात यह है कि जब वैराग्य आता है हृदय में तो काम क्रोध की वृत्तियों का उठना शांत हो जाता है इंद्रियां शांत हो जाती हैं हैं और कर्म के गोरख धंधे से उपरांता आ जाती है और दुख आवे तो उसको सह लेते हैं अभिमान की निवृत्ति होकर के श्रद्धा आती है और चित्त में शंका कुशंका ज्यादा नहीं उठती है तब इस परिच्छिन्न सत्ता के अभिमान से छूटने की सच्ची इच्छा उदय होती है उसका नाम मुमुक्षा होता है तो दो तीन बात आप ध्यान में रखें एक तो वेदांत ये कहता है कि जो कुछ साधन से मिलता है वो नाशवान भी होता है नाश्चकृत कृते न यदि तुम साधन करोगे हमारा प्रयत्न है इसलिए झेला जितने जोर से फेंका जाएगा उतना ऊपर जाएगा और जब वेग उसका समाप्त तो हो जाएगा तब वो धरती पर गिर पड़ेगा तो साधन करके अपने मन को जितना ऊंचा तुम फेंकोगे वहां से फिर गिर पड़ेगा तो जो साध्य वस्तु है साधन से साध्य जो मेहनत मजदूरी के रूप में मिलती है जहां हम चल के पहुंचते हैं जिसको करके पाते हैं है? वो वस्तु नाशवान है जो साधन साध्य है वो अनित्य है चाहे उसका नाम स्वर्ग हो और चाहे उसका नाम ब्रह्मलोक हो चाहे कोई भी दूसरा लोक हो जो साधन साध्य है वो अनित्य है उससे वैराग्य होना आवश्यक है और जो परब्रह्म परमात्मा है वो साधन साध्य नहीं है वो सिद्ध है उस साधन से उत्पन्न नहीं होता वो उत्पाद भी नहीं है जैसे घड़ा बनाते हैं ऐसे ब्रह्म को बनाना नहीं है, है? और जैसे घड़ा दूसरे के घर से उधार मांग लाते हैं तो काम चल जाता है वैसे दूसरे के अनुभव से काम नहीं चलेगा आप चलेंगे और ये कोई संस्कार डालने की चीज नहीं है क्या पवित्र पवित्र उगा करके जल छिड़क दो ब्रह्म हो गए तो उत्पाद नहीं आप से नहीं संस्कार से नहीं और विकार से नहीं दूध का दही बनाना हो तो जमाए लो तो घड़े को फोड़ना हुआ फोड़ भी ना घड़े में कल घड़े घड़े में बरों का स्थापन कर दिया संस्कार कर दिया स्वस्तिक लगा दिया स्वस्तिक लगा दिया और वरुण स्त्योत मसी कर दिया मंत्र पढ़ दिया जल भर दिया तो घड़े को बनाना है घड़े को दूसरे के घर से ले आना घड़े का संस्कार कर देना है या घड़े में गंदी चीज डाल दी तो अशुद्ध हो गया या घड़े को फोड़ दिया ऐसे ब्रह्म घड़े की तरह नहीं है इसलिए किसी भी साधन के द्वारा ब्रह्म साध्य नहीं है ब्रह्म अपने आत्मा का ही एक नाम है और वो स्वतः सिद्ध है तो बोले कि भाई ब्रह्म तो है सिद्ध और साधन से जो साध्य है वो हमको चाहिए नहीं तो फिर साधन क्यों करें तो बोले साधन इसलिए नहीं किया जाता कि हमको ब्रह्म मिले तो साधन काय को किया जाता है इसलिए कि हमारे अंतकरण में जो अशुद्धियां भरी हैं वो निकल जाए है ना अपने अंतकरण में जो काम है क्रोध है लोभ है मोह है राग है द्वेष है उनके निवारण के लिए साधन किया जाता है आपको ये बात सुना में ये विचार भी किया जाता है ये विचार भी ब्रह्म प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता प्रमाण उसको कहते हैं कि जो प्रमाणांतर से अनधिगत और प्रमाणांतर से अबाधित वस्तु का साक्षात्कार करावे उसको प्रमाण बोलते हैं ये तो हमने परिभाषा बोल दी आप इसको समझो आप प्रमाण है कैसे प्रमाण है तो ये रूप नाम की जो चीज है ना काला पीला हरा नीला ये है विषय तो ये प्रमाणांतर से अनधिगत है माने कान से हम लाल पीला हरा नहीं देख सकते नाक से नहीं देख सकते जीव से नहीं चख सकते त्वचा से लाल हरा पीला नहीं जान सकते तो जो चीज और किसी भी तरीके से तरकीब से न मालूम पड़े और किसी एक चीज से मालूम पड़े तो रूप के ज्ञान में नेत्र प्रमाण है अब नाक कहे के रूप नहीं है कान कहे के रूप नहीं है जीव कहे के रूप नहीं है तो इनके कहने का कोई असर नहीं है प्रमाणांतर माने नाक जीव कान त्वचा आदि से अज्ञात इनसे तो रूप मालूम नहीं पड़ा और इनके मना करने से रूप कटता नहीं ऐसी चीज को आंख बताती है इसलिए आंख प्रमाण है और आंख से जो चीज नहीं मालूम पड़ती उसको नाक बताती है गंध को इसलिए नाक प्रमाण है इनसे जो चीज नहीं मालूम पड़ती उसको कान बताता है इसलिए कान प्रमाण है है ना तो प्रमाण शब्द का अर्थ ये है प्रमाणांतर से अनधिगत और प्रमाणांतर से अबाधित जिसको दूसरे प्रमाण काट न सके है? और दूसरे प्रमाण से मालूम न कर सके जो अपने विषय का एकमात्र बोधक हो उसको प्रमाण बोलते हैं है? अब आप देखो अपरिच्छिन्न जो ब्रह्म है सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म संपूर्ण परिच्छिन्नताओं का जो अधिष्ठान है संपूर्ण परिच्छिन्नताओं का जो प्रकाशक है संपूर्ण परिच्छन्नताओं के भावाभाव का जो भावाभाव का जो एकमात्र अद्वितीय साक्षी है उसको आप किस प्रमाण से जानोगे आंख से दिखेगा अपरिच्छिन्न ये नन्ही मुन्नी ये तो लाल पीला नीला देखने के लिए है नाक से मालूम पड़ेगा कि ये तो गुलाब और चमेली की गंध पहचानने के लिए है कहिए ये कान कहिए तो शब्द सुनने के लिए है कहिए त्वचा कहिए स्पर्श बताने के लिए है ये जीव कहे तो स्वाद बताने के लिए है ऐसा तो मन मन बिल्कुल नहीं क्योंकि संस्कार युक्त जो मन है वो तो ये बतावेगा ये पत्नी है ये बहन है ये माँ है तो संस्कार होता है जैसा जैसा संस्कार डाल दो वो तो वो बता देगी कि राम ही भगवान है कृष्ण नहीं तो कृष्ण ही भगवान है राम नहीं मनोवृत्ति जो है ना जागृत संस्कार से युक्त मनोवृत्ति होगी अयोध्या वाले कहेंगे कि राम ही भगवान है कृष्ण नहीं वृंदावन वाले कहेंगे कृष्ण ही भगवान है राम नहीं काशी वाले कहेंगे शिव ही भगवान है, है? राम कृष्ण नहीं <laughs> दक्षिण चले जाओ तो बोले नारायण ही भगवान है आर्य समाजियों में चले जाओ बोले निराकार ही भगवान है, हैं साकार नहीं तो तक संस्कार से संस्कृत जो मन होता है वो वैसे ही ध्यायती व ले लायती व वैसे ही ध्यान करता है वैसे ही चलता है बोले बुद्धि बोले संस्कार से हीन बुद्धि का होना बड़ा मुश्किल है जितनी बुद्धि होगी उसमें संस्कार होगा तो बोले बुद्धि भी तो छोटी है ना वो अनंत को कैसे ग्रहण करेगी है? मन भी छोटा है अनंत को कैसे ग्रहण करेगा अपरिच्छिन्न वस्तु के अनुभव में न इंद्रिया प्रमाण है और न इंद्रियों को मूल बना करके होने वाला अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि प्रमाण है न तो द्वैत बोधक शब्द ही प्रमाण है द्वैत बोधक शब्द भी प्रमाण नहीं तो जहाँ मन की जहाँ आंख की ज्योति काम नहीं देती मन इंद्रियों की ज्योति काम नहीं देती जहाँ मन की ज्योति काम नहीं देती वहाँ बाघ ज्योति काम देती है बाघ ज्योति में भी कैसी बाघ ज्योति है बोले जो अपरिच्छिन्नता का बोधक जो वचन गए को बोले अपरिच्छिन्नता का बोधक वचन भी ये नहीं कि किताब और मेज एक है ये बताने वाला इस संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच का प्रकाशक दृष्टा आत्मा और संपूर्ण नाम रूप रूपात्मक प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म इन दोनों को एक बताने वाला जो वचन है वो प्रमाण है तो वो वचन कैसा बोले कि डॉक्टर लोग किसी रोगी को देखते हैं तो उस पर दवा का प्रयोग करते हैं जांच करते हैं दवा का प्रयोग करते हैं फिर अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं कि ऐसा रोगी हमारे पास आया उस पर हमने इस दवा का प्रयोग किया और ये उसका असर हुआ प्रयोग करते करते जब सत्तर अस्सी प्रतिशत रोगियों को लाभ होने लगता है तो कहते हैं हाँ भाई इस दवा से बड़ा फायदा होता है वो लोग संसार में अनुभव कर कर के अपने रजिस्टर में चढ़ाते हैं इसी अनुभव को बोलते हैं पौरुषेय बना आप वेदांत की प्रामाणिकता के संबंध में ये बात निरुपप्लव समझ लें निरुपद्रव समझ लें है ना कि ये अनुभव करके लिखा जाता है एक शास्त्र वो अनुवादक शास्त्र उसको बोलते हैं प्रकारांतर से ज्ञान हुआ आंख से ज्ञान हुआ और पोथी में लिख लिया गया है ना नाक से ज्ञान हुआ और पोथी में लिख लिया गया जीव से ज्ञान हुआ और पोथी में लिख लिया गया मन से ध्यान हुआ और पोथी में लिख लिया गया बुद्धि से विचार हुआ और पोथी में लिख लिया गया और नहीं यहीं तक नहीं साक्षी का दृश्य हुआ और पोथी में लिख लिया गया सुषुप्ति जो है ना वो दृष्टा को दिखती है वो और तो दृष्टा सुसुप्ति को देखता है ये बात पोती में देख कर देखी गई ये हमारे वेदांति भामतिकार वाचस्पति मिश्र भगवान श्री शंकराचार्य धप्पय दीक्षित ये कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति का दृष्टा है आत्मा ये बात तो तीनों अवस्थाओं में देख ली गई कि मैं ही साक्षी हूँ और गोदी में देख ली गई अगर केवल साक्षी बना बताना हो तो एक आदमी स्वस्थ होके शांत होके बैठ जाए और देख ले कि जागृत स्वप्न सुसुप्ति का दृष्टा मैं हूँ तो ये हमर्थ जो है ये तो विचार सिद्ध है युक्ति सिद्ध है और यदि विचार और अनुभव सिद्ध है यदि युक्ति विचार और अनुभव से सिद्ध का ही प्रतिपादन वेदांत करता तो वेदांत प्रमाण ही नहीं है फिर क्यों तो बोले तो अनुवादक है अनुवादक कहते हैं कि एक प्रमाण से माने अनुभव रूप प्रमाण से जब ये बात मालूम हो गया कि आत्मा दृष्टा है तब जैसे डॉक्टर ने अपने रजिस्टर में लिखा वैसे वेदांत ने लिखा तो तब वेदांत कैसे बोलता है ये वेदांत की शुरुआत है वो ककारा है वेदांत का बेले बोले भाई वेद हाँ। आखा को ब्रह्म जिज्ञासा मैं दृष्टा हूँ मैं साक्षी हूँ ये तो स्वतः सिद्ध अनुभव है हाँ डॉक्टर लोगों ने रोग पर दवा का प्रयोग किया फायदा हुआ लिख दिया हाँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में आम दृष्टा समाधि में आम दृष्टा शांति में आम दृष्टा न हम करता है न भोगता है कर्म आते हैं और जाते हैं भोग आते हैं और जाते हैं हम तो एक रात रहते हैं दुनिया बह रही है और हम देख रहे हैं वेदांत ये बताना चाहता है कि ये जो बहती हुई दुनिया है ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है देश से परे जो ब्रह्म उससे अलग देश नहीं है काल से परे जो ब्रह्म उससे अलग काल नहीं है वस्तु से परे जो ब्रह्म उससे परे वस्तु नहीं है और ये जो देश काल वस्तु के भावा भाव बाबा भाव का अधिष्ठान ब्रह्म सो आत्मा है वेदांत का कहना है कि हमारे सिवाय हाँ, ये वेदांत का दावा है इसको संसार का दूसरा कोई संप्रदाय कोई धर्म कोई रीति कोई नीति है ना कोई युक्ति कोई तर्क स्थिति कोई साधना इस बात का साक्षात्कार करवाती है इस बात करवाता है तो अकेला वेदा ये वेदांत की अपनी अपूर्वता है वो कहता है कैसे तुमने क्या ब्रह्म को साक्षी था जिस ब्रह्म को साक्षी देखेगा वो ब्रह्म नहीं होगा वो तो साक्षी की दृष्टि का विलास होगा लेकिन साक्षी ने खुद ही अनुभव के हम ब्रह्म में कैसे अनुभव किया उसको असल नहीं था मैं ही अनंत हूँ मैं ही अद्वय हूँ या तो उसके अंदर पड़ा हुआ था है ना और किसी कारण से प्रतिबद्ध था और प्रतिबंध की निवृत्ति होना कार हो गया या तो ये मानो वेदांत का संस्कार उसके था किसी कारण से प्रतिबद्ध था वो जागृत हो गया के लिए संसार का खो जाना भी जरूरी है वो कहाँ खोवे समाधि में करना वो तो फिर निकलेगा कहाँ खोवे वैकुंठ में करना हाँ, वहाँ से तो फिर भगवान संकल्प करेंगे आओ भाई चलो भगवान अपने लोक में रहते रहते कभी कभी संकल्प कर लेते हैं चले जरा तय कर आवे है अपनी प्रजा में अपने लोक में हुआ में तो अपने सब पार्षदों को लेके आ जाते हैं लक्ष्मी को भी लेके आ जाते हैं वैकुंठ से बाहर निकलना होता है भगवत संकल्प से भले हो गए परंतु भगवत संकल्प से भी वैकुंठ से गोलोक से साकेत से कैलाश से बाहर निकलना होता है और प्रकृति के परिणाम से ही सही अनुलोम परिणाम से ही सही समाधि टूटती है स्वर्ग में धर्म धर्म की गति समाप्त हो जाने पर वहाँ से गिरना होता है परंतु ये न समाधि है न वैकुंठ है न स्वर्ग है न ये लोक है न परलोक है ये तो विलक्षण है अपनी अद्वितीयता का बोध जिसमें न दूसरा जीव है दूसरा जीव नहीं दो दृष्टा नहीं है एक बालक था तो वो कहता था कि बस हम ब्रह्म हैं हम ब्रह्म हैं हम ब्रह्म हैं तो एक दिन विपिन बाबू ने जिरा कर ली उससे और बोले कि तू रोता है बोले मैं थोड़े रोता हूँ शरीर रोता है तो तू खाता है बोले शरीर खाता है तेरे माँ बाप है बोले शरीर के माँ बाप है तो फिर बोले कि देख एक तू ब्रह्म एक तू दृष्टा है एक ये दृष्टा है बोले हाँ एक दृष्टा मैं एक दृष्टा ये तो बोले खत्म हो गई बात है ना दृष्टा जहाँ दो हुए जीव भेदो जगत सत्यम ईशोन्य चेत त्रयम चेत सदा सांख्य योग वेदांत सम्मते यदि <clears throat> दृष्टा में भेद होता है ये बात छोड़ दी जाए और जगत अधिष्ठान से पृथक कुछ सत्य है ये बात छोड़ दी जाए और ईश्वर दूसरा है ये बात छोड़ दी जाए ईश्वर का अलगाव मिट जाए हैं? और जगत की सत्यता मिट जाए और जीव की अनेकता मिट जाए अपने स्वरूप के ज्ञान से न दूसरा जीव है न दूसरा ईश्वर है न दूसरा जगत है ऐसा अद्वितीय ऐसा अद्वितीय बोध हाँ। अपने अद्वितीयत्व का बोध ये देता है वेदांत तो आओ जरा आप जगत का वर्णन करेंगे हो हाँ। ऊर्धमूलो वाक्शाखा एशोस्वस्थ सनातन ऊर्धमूलम जप तद विष्णु परम पदम अस्य इति सोयम कहते हैं कि जैसे ऊपर वृक्ष की जो शाखा प्रशाखा है ना का जो तूल होता है तूल माने कार्य जैसे बनौले में से जैसे रूई निकलती है ऐसे ये बीज में से निकल करके जो रूई की तरह दुनिया फैली हुई है कार्यात्मक जो प्रपंच है इसको देख करके वृक्ष के मूल का पता लग जाता है जैसे लोक में वैसे ये संसार रूप कार्य वृक्ष का अवधारण करके इसका जो मूल ब्रह्म है उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है स्वरूपावधिधार ईशया अवधिधार ईशा अवधारण करने की इच्छा जगत का स्वरूप अवधारण करने की इच्छा नहीं ब्रह्म का स्वरूप अवधारण करने की इच्छा कोई ब्याह करना चाहता हो तो ये देखेगा ना कि उस लड़की का नाक नक्श कैसा है उसका स्वभाव कैसा है उसमें गुण क्या है उसकी रैली करनी क्या है, है? तो जो पर ब्रह्म परमात्मा को चाहता है वो पर ब्रह्म के स्वरूप का अवधारण करना चाहता है तो ये संसार जो है ये जन मूल है ऊर्ध मूल संसार कैसा है उन्हें इसका मूल जो है वो ऊपर है आत्मरीति जरा अलग है ना ऊर्ध शब्द का अर्थ ऊपर है और मूल शब्द का अर्थ प्रतिष्ठा है मार दिया अनिर्वचनीय बना के जड़ तो है ऊपर ऊपर जड़ है दुनिया में जितने पेड़ होते हैं उनकी जड़ नीचे होती है तो मैंने एक संत से एक बार पूछा कि महाराज ये ऊपर जड़ और नीचे पेड़ ऐसा तो कोई पेड़ देखने में नहीं आता तो हंसने लगे बोले देखने में आता है हंसते थे हाँ, मैं कहता था कि ऊपर हो जड़ और नीचे हो शाखा ऐसा पेड़ तो देखने में नहीं आता तो बोले नहीं होता है तो मैंने सोचा कि कहीं पहाड़ में होता होगा ऊपर जड़ होती होगी और नीचे <clears throat> दीवार में कोई कोई पेड़ उग जाते हैं तो जड़ ऊपर हो जाती है लटक के नीचे चले जाते हैं वैसे पेड़ का स्वभाव ही है नहीं पेड़ का स्वभाव यही है कि जिधर से सूर्य की किरण आवेगी उधर को वो बढ़ेगा तो वो तो फंसे तो बोले कि ऐसा पेड़ तो होता है बोले आपने मैंने कहा आपने देखा है महाराज तो मैंने ऐसे तो हजारों लाखों पेड़ ऐसे देखे हैं कि जिनकी जड़ ऊपर और शाखा नीचे तो मैंने कहा कहा देखा बोले कि हम तो अभी देख रहे हैं कैसे देख रहे हो महाराज का सिर ऊपर और पाव नीचे है ना तो, <laughs> है ना देखो हाथ भी नीचे लटका पाँव भी नीचे लटका ये सब नीचे को लटका है, है? तो ये शरीर जो है ये ऊर्ध मूलम अदा शाखम इसका मूल ऊपर है और शाखा नीचे है ये तो ये ब्रह्मांड वृक्ष भी ऐसा ही है विराट जो पुरुष है ना विराट पुरुष ब्रह्मलोक उसमें ऊपर है और पाताल नीचे है, है? ये विराट पुरुष भी ऐसे ही है तो मूल शब्द का निरुक्त में पांच अर्थ दिया हुआ है एक तो पाणनीय व्याकरण के अनुसार मूल दो धातु ही हैं जो मूल हैं जिनको मूल बोलते हैं एक तो है मूल प्रतिष्ठाया वादी में और वादी परस्मयी पदी श्रेष्ठ इसका रूप चलता है मूलति मूलतः मूलंती मूलति भी तो ये जो है ये जैसे पेड़ लगाने के लिए जैसे थाला होता है ना थाला जैसे पेड़ का आश्रय पेड़ का है ना पेड़ का आधार उसको मूल बोलते हैं मूल प्रतिष्ठाया ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा अच्छा ब्रह्म गुच्छम प्रतिष्ठा श्रुति में आया ना तैतरीय तो उपनिषद में ब्रह्म गुच्छम प्रतिष्ठा तो इसे ये संपूर्ण जगत जिसमें प्रतिष्ठित है उसको मूल बोलते हैं मूल दूसरी धातु है मूल रोहणे चुरादी चुरादी में मूल रोहणे धातु है उसका अर्थ मूल है अति जो इस जगत रूप अंकुर को उत्पन्न करता है उसको मूल कहते हैं इसका कारण उसको मूल बोलते हैं निरुक्त में मूल शब्द को तीन मुख्य धातुओं से बनाया मोचनादवा मोशनादवा मोहनादवा सब में लौ प्रत्यय हो गया और मुंह तो पहले से मौजूद ही है हैं? जो अपने अंकुर को मुक्त कर दे कि जाओ तुम बढ़ो उसका नाम है मूल मोचनाथ मूलम मोषणात मूलम जो अपने अंकुर को छिपा करके चुरा करके अपने अंदर रखता है है ना कोई पता लगाना चाहे कि इसमें से कितना बड़ा वृक्ष होगा जैसे बह का बीज है ना और पीपल का बीज है जरा सा हो बिल्कुल पोस्त का दाना जैसा और उसमें से इतना बड़ा तो अपने वृक्ष को जो अपने अंदर छिपा के रखा है उसका नाम मूल तो मोचनादवा हुआ मोहनादवा हाँ, ये महाराज इसमें से जो वृक्ष निकलता है वो सबको मोहित कर लेता है लोग वृक्ष को ही देखते हैं मूल का पता ही नहीं चलता कि ये किस चीज का बीज कहा गया हाँ, इसलिए मूल को मूल कहते हैं अब जरा ऊर्ध शब्द के अर्थ पर विचार करो तो मोचनाद मूलम मोषणाद मूलम और मोहनाथ मूलम और ये तो व्याकरण की निरुक्ति की बात हो गई अब उर्दू शब्द के अर्थ पर विचार करें तो उर्दू का अर्थ सामान्य रूप से लोग समझते हैं ऊपर अब ये देखो मेज है सामने इसके ऊपर हाथ है तो ये उर्धम हो गया ना मेज से उर्धम हो गया है लेकिन ये हाथ उर्धम कहाँ हुआ इसके ऊपर तो भी छत है और छत के ऊपर सूर्य चंद्रमा है कहीं इस ऊपर का अंत मिलेगा ऊर्धम मूलम का क्या अर्थ है देश में ऊपर और नीचे का भाव कल्पित है हे भगवान हाँ हाँ ये नहीं समझना कि कितनी सीढ़ी लगाने के बाद स्वर्ग मिलता है ये पहली तारीख तो मंगलदायिनी होती है और दूसरी तारीख जो है वह मंगल होती है इस बात को कोई तारीख का पता तारीख को इस बात का पता है काल में कहीं सोमवार मंगलवार होता है काल में कहीं सायंकाल काल होता है अरे तो विभिन्न उपाधियों के कारण काल में इसकी कल्पना हो जाती है तो जरा बात ध्यान से ऊर्धमूलम का अर्थ क्या होता है काल में ऊर्ध्वता क्या है यदि हम कहें कि मम पंचम पुरुषार्थ ऊर्ध्वम ईसा से पूर्व पांचवी शताब्दी क्या अर्थ हुआ ईसा से पहले ईसा कहा ऊर्ध्वम ईसा से पहले माने बीसवीं शताब्दी ईसा की समय है तो 500 वर्ष पहले माने 2500 वर्ष पहले ऐसा होगा और यदि ऐसा कहें कि अब से एक शताब्दी के बाद तो उसके लिए भी ऊर्धम शब्द का प्रयोग होगा संस्कृत में एक शताब्दी ऊर्ध्वम एवं भविष्य भी एक शताब्दी के बाद ऐसा हो जाएगा तो ऊर्ध किधर रहता है पहले की ओर कि पीछे की ओर <clears throat> ये काल में ऊपर काल में पहले और पीछे कल्पित है कोई पहले पीछे नहीं होता काल बिल्कुल एक रस अपने अधिष्ठान ब्रह्म में द्रव्य की उपाधि से सूर्य चंद्रमा आदि की उपाधि से चमक रहा है और देश जो है वो अपने आश्रयभूत ब्रह्म में हाँ। द्रव्य की उपाधि से ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बना हुआ है और वस्तु में कौन पहले गेहूं पहले कि तना पहले हैं अंकुरा ऊर्धम फलम फलाद ऊर्धम अंकुरा फल के बाद अंकुर और अंकुर के बाद फल उसमें ऊर्ध क्या हुआ तो ऊर्धमूलम का अभिप्राय ये हुआ कि देश काल और वस्तु के कल्पित जो ऊर्ध्वाधो विभाग हैं वो जिसमें नहीं होते उसका नाम है ऊर्ध्व ऊर्ध्व माने हाँ। देश कल्पना काल कल्पना वस्तु कल्पना का अधिष्ठान भी और प्रकाशक भी जहाँ वस्तु कल्पित होती है वहाँ प्रकाशक और अधिष्ठान एक ही होता है कल्पित जो सर्प है उसका अधिष्ठान रज्जू नहीं है जो कल्पना का प्रकाशक है वही सर्प का भी प्रकाशक है इसलिए इस कल्पित देश काल वस्तुआत्मक प्रपंच का जो प्रकाशक है दृष्टा है वही अधिष्ठान है यही तो वेदांत बताता है वेदांत का अभिप्राय यही है कि जो इस प्रपंच को देख रहा है वही ब्रह्म है और उस ब्रह्म में ये प्रपंच नाम की और कोई वस्तु नहीं है ऊर्ध्वमूलम अवाक शाख हाँ। अवाक माने प्रत्यय के रूप में प्रत्यय सार के रूप में ब्रह्म है और प्रत्यय के रूप में ये शाखाएं हैं ये तो स्वस्थ सनातन तद विष्णु परम पदम अब संसार वृक्ष का वर्णन सभी विस्तार से महाराज शंकराचार्य भगवान ने किया है भाष्य में कहते हैं कि अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत ये संसार वृक्ष है संसार वृक्ष इसको वृक्ष क्यों कहते हैं क्योंकि वृष्ट है हाँ। ये वृश्चिक शब्द जो है ना वो तो आप जानते ही होंगे वृश्चिक राशि नहीं हो वृश्चिक माने बिच्छू है ना जैसे बिच्छू आदमी को डसता है वैसे ये भ्रष्टनाथ वृक्ष है ना ये आदमी को डसता है अगर इसमें मन लगाओगे इसमें फंस जाओगे तो ये तुम्हें डसेगा छोड़ेगा नहीं ईश्वर से विमुख हुए ईश्वर से विमुख हुए ईश्वर वृत्ति छोड़ी ईश्वर से विमुख होना माने ये नहीं कि पीछे ईश्वर सामने संसार ये नहीं ये जो दिखने वाला संसार है इसी में यदि अधिष्ठान दृष्टि को छोड़ दिया सब ब्रह्म ही प्रपंच के रूप में भाग रहा है राग द्वेष मत करो अच्छे बुरे सबके रूप में वही है ईश्वर दृष्टि जहाँ छूटी क्या लीला कर रहा है क्या खेल है ईश्वर दृष्टि छूटी और राग द्वेष आया ब्रह्म दृष्टि छूटी और द्वेष आया रागो लिंगम अबोधस्य मूर्खता की पहचान क्या है पूरे दुनिया के मोहब्बत में और नफरत में फंस जाना रागो लिंगम अबोधस्य अबोध की पहचान मूर्खता की पहचान क्या है ये जरण स्वामी का वचन है वो पंचदशी में रागो लिंगम अबोधस्य पहले समझ जाओ इसको कहीं रागद्वेश मत करो अच्छा अविच्छिन्न जन्म जरा मरण शोका देने का अर्थात्मक इसमें हमें जन्म पर जन्म होते हैं बुढ़ापा आता है मौत आती है शोक आता है मोह आता है ये अनर्थ ही इस वृक्ष का स्वरूप है यदि ब्रह्म से पृथक करके और इसमें तुम लगे तो तुम्हारे हाथ क्या लगेगा का बारंबार जन्मना बारंबार मरना बारंबार बुढ़े होना शोक मोह में ग्रस्त होना ये तुम्हारे हाथ लगेगा प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव ये हर क्षण बदलता है आज तक किसी के हाथ में नहीं रहा झूठे ही लोग कहते हैं कि हम वही हैं वही हैं वही हैं श्रीमद भागवत में वृक्ष का रूपन लेकर के संसार का बड़ा बढ़िया वर्णन है हो श्रीमद भागवत शंकराचार्य भगवान ने जैसा किया है क्योंकि हमारे तो इसमें हम इस बात पर विवाद कभी नहीं करते कि पहले शंकराचार्य की पहले भागवत की पहले भागवत की पहले शंकराचार्य हाँ, अभी एक आए थे नारायण इतिहास के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं बंगाल के चक्रवर्ती भाषण कानपुर में मिले तो उन्होंने पूछा कि भागवत किसने लिखी है महाराज कब लिखी गई तो मैंने कहा मैंने लिखी है और आज ही लिखी गई <clears throat> आज ही लिखी गई आप ये बताओ कि आपको भागवत की किस बात पर आपत्ति है वो तो बताओ है ना वो रामकृष्ण विवेकानंद कल्चरल इंस्टीट्यूट के अध्यापक हैं और पहले के बहुत बड़े इतिहास के विद्वान हैं मैंने कहा हम ग्रंथ को महत्व देते हैं इस दृष्टि से कि उसमें किस वस्तु का वर्णन है अपरिच्छिन्न का वर्णन है कि परिच्छिन्न का वर्णन है इंद्रिय ग्राह्य का वर्णन है कि अतीन्द्रिय का वर्णन है, हैं? यदि उसमें अतीन्द्रिय वस्तु का वर्णन है और यदि उसमें अपरिच्छिन्न पदार्थ का वर्णन है हो चाहे पांच हजार बरस पहले लिखा गया हो चाहे आज लिखा गया हो वस्तु के महात्म्य से उसकी महिमा है है ना काल के महात्म्य से उसका महात्म्य नहीं है नारायण वो बोले है ना बहुत मजेदार बात हुई वो जहाँ वेद की थोड़ी चर्चा करें कि निरुक्त की करें कि क्या नाम है तो हमको याद था कोई काव्य की, की चर्चा एक दिन काव्य की तो वो भी हमको याद था इतिहास पुराण की चर्चा करें तो वो भी हमको याद तो वो बोले कि स्वामी जी आज तक इतने दिन इतिहास पढ़ाते हमको हो गया हमने कभी इस दृष्टि से विचार ही नहीं किया कि वस्तु के महात्म्य से वर्णन का महात्म्य होता है है ना ये तो बिल्कुल अद्भुत अद्भुत है कहा वो पुस्तक भारत में लिखी गई कि बाहर लिखी गई ये पुस्तक का महात्म्य नहीं है आज लिखी गई कि पांच हजार वर्ष पहले लिखी गई है ना तो इसका महात्म्य नहीं है है ना उसको ब्राह्मण ने लिखा कि शुद्र ने लिखा ये उसका महात्म्य नहीं है महात्म्य ये है कि उसमें है क्या है मसाला क्या है यदि उसमें अद्वितीयत्व का वर्णन है तो वेद है वेद आई ब्रह्मवेद ताकि मानी वेद भाषा अथवा संस्कृत कृत भेद ब्रह्म भेद नारायण तो आओ देश काल वस्तु में मत ये देखो ये दुनिया जो है प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव बदल रही है दुनिया बदल रही है जैसे जादू का खेल हो जैसे सूरज की किरणों में पानी दिख रहा हो जैसे आकाश में गंधर्व नगर दिख रहा हो प्रतिक्षण प्रतिक्षण बदल रही है प्रतिक्षण तो इसको वृक्ष का रूपक दे करके भागवत ने बताया एकायनोसौ विफल त्रिपुलहा चतुरस पंच विधात्मा सप्तस्वगस्त विटपो नवाक्षो दशदी द्विखगो यादि वृक्ष ये संसार एक वृक्ष है कैसा वृक्ष है बोले इसकी जब मूल एक है दो इसमें इस, इसका आयन इसकी प्रतिष्ठा एक है परमात्मा दो इसमें फल लगते हैं सुख दुख सत और अजतम तीन इसके मूल हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष चार इसके रस हैं और पांच इसके प्रकार हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध छह इसकी उर्मिया हैं भूख प्यास शोक मोह आदि हाँ सात इसमें धातुएं जो हैं ये त्वक हैं हाँ। और आठ आठ इसमें डालियां हैं आठ प्रकार की प्रकृति और नौ कोडर हैं और दस प्राण जो हैं इसके छद हैं और दो इस पर चिड़िया रहते हैं भागवत में वृक्ष के रूप में वृक्ष के रूप में इसका वर्णन है ये संसार क्या है बोले एक वृक्ष है इसके चक्कर में नहीं पड़ना इससे छूटना ये ऐसे ही बदलता है ऐसा बदलता है है ना ये रंग बदल है ये ये रंग बदलता रहता है आजकल के राजनीतिक लोग जैसे अपना दल बदलते हैं दल बदल का जैसा जोर है है ना वो ऐसे ही ये जो संसार है इसका हमेशा से दल बदल पर जोर है और है ना बस बदल रहा है बदल रहा है यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ यहाँ बदलता है भागवत में बताया कि जैसे एक झरना बह रहा हो नदी बह गंगा भी बह रही हो रोज आप जाके नहाएं तो मालूम पड़ेगा कि हम उसी गंगा जी में नहा रहे हैं जिसमें कल नहाया था पर कल वाली गंगा जी तो कहाँ गई है वो तो 25 मील प्रति घंटे के रफ्तार से बह रहे हाँ, आप बोलो कल वाली गंगा जी का जल आज थोड़ा ही है, है? अच्छा एक आम का पेड़ फला वृक्ष फल फल फल लगा पेड़ में कल भी देखा और आज भी देखा मालूम पड़ता है जो कल देखा तो आज है कल देखा सो तो बदल गया आज तो बढ़ गया वो पक गया नारायण एक दिया जलाया घर में अब बोले जो घंटे भर पहले जलाया था सो अब है बत्ती गई घी गया प्रतिक्षण धुआं हो रहा है लव जो है आसमान में समा रही है वो कहा से है तो ये संसार जो है ये बदल रहा है बदल रहा है इसमें जो ये ख्याल है कि जो कल था सोई आज है और हम मोह कर रहे हैं हम राज कर रहे हैं हम द्वेष कर रहे हैं है? अपने को करता भोगता संसारी परिच्छिन्न मान करके जो इसमें फंस रहे हैं है? ये सत्यानाशी विचार सत्यानाशी विचार हैं और मनुष्य को बहुत बहुत दुख देने वाले हैं इन विचारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इसी जीवन में मुक्ति होती है अभी मुक्ति होती है असल में आप मुक्त हैं भ्रांति से ही अपने को बद्ध मान रहे हैं तो इस ज्ञान को देने वाला ये वेदांत ये वेदांत है अब कल सुनाएंगे तो